बहुत से प्रश्न इधर बहुत से प्रश्न मेरे सामने आए हैं सुबह की चर्चा में स्वतंत्र विचार के लिए जो मैंने निवेदन किया अधिक प्रश्न उससे ही संबंधित हैं पूछा है की यदि श्रद्धा न होगी तो सामान्य जन का क्या होगा सामान्य जन का बहुत विचार चलता है सुबह भी मैं यहां से उठा और किसी ने मुझे कहा कि सामान्य जनों का क्या होगा ये तो भटक जाएंगे जैसे कि सामान्य जन अभी भटका हुआ नहीं है जैसे कि सामान्य जन अभी जहां है बिल्कुल ठीक है ये बात स्वीकार ही कर ली है जैसे कि सामान्य जन बहुत ठीक स्थिति में है और अगर श्रद्धा डिग गई विश्वास हट गया तो भटक जाएगा मेरी दृष्टि में तो इससे ज्यादा भटकी हुई और कोई हालत नहीं हो सकती जिसमें हम हैं ये भी पूछा है कि अगर श्रद्धा और विश्वास उठ गया तब तो पतन और अनाचार फैल जाएगा जैसे अभी बहुत आचरण फैला हुआ है आचार फैला हुआ है जैसे हजारों साल से अनाचार नहीं है अभी हम जिस स्थिति में हैं अगर वो अनाचार की नहीं है तो और अनाचार की कौन सी स्थिति होगी क्या है हमारे जीवन में जिससे हम कह सकें कि ये पतन नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि वो हजारों वर्ष से चलता है इसलिए हम उसके आदि हो गए हैं और उससे भी डिग जाएंगे तो बहुत घबराहट मालूम होती है जैसे कोई बीमार आदमी पूछे कि अगर मैं दवा ले लूंगा और बीमारी चली जाएगी तो फिर क्या होगा श्रद्धा और विश्वास का यह परिणाम हुआ है कि मनुष्य पतित है क्योंकि पतन की पहली बुनियाद तो अंधेपन से शुरू हो जाती है पतन का पहला आधार तो रख दिया अंधेपन ने जिस व्यक्ति ने अपने सोच विचार को उधार रख दिया उसके जीवन में अब पतन नहीं होगा तो और क्या होगा जिसने अपनी निज गरिमा को स्वयं के सोचने की स्वतंत्रता को ही समाप्त कर लिया अब उसकी स्थिति पशुओं से बहुत बेहतर नहीं हो सकती है पशु और मनुष्य में यदि कोई भेद है तो वो यही कि मनुष्य विचार करने में समर्थ है और यदि हमने विचार करना बंद कर दिया और विश्वास कर लिया तो हम अनिवार्य रूपेण पशु की स्थिति में नीचे गिर जाते हैं जो विचार नहीं करता है उसके लिए पतन के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता ये श्रद्धा और ये विश्वास और ये सारा प्रोपगेंडा जो हजारों साल से चला है उसने हमें इस हालत में ला के छोड़ा है ये पूछना कि सामान्य जन भटक जाएगा और भी एक अर्थ रखता है जो भी ये पूछता है वो अपने को असामान्य जन मानता है जो भी ये पूछता है वो दूसरों पर दया करके ये पूछता है खुद तो उसे कोई भय नहीं है वो तो बहुत विशिष्ट जन है बाकी सामान्य जन भटक जाएंगे और मुझे इधर लाखों लोगों से मिलने का रोज निरंतर मौका आ रहा है अब तक मुझे एक भी जन ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो मैं सामान्य जन हूं प्रत्येक को यही भ्रम है कि बाकी सारे लोग सामान्य हैं और मैं विशिष्ट हूं हर एक मुझसे यही पूछता है कि सामान्य जन का क्या होगा अभी तक ऐसा एक भी आदमी मुझे पूछता नहीं आया है कि मेरा क्या होगा ये सामान्य जन कहां है मैं भी खोजता हूं मुझे अभी तक मिला नहीं आपको मिले तो मुझे बताएं ये कौन है ये सामान्य जन कौन है ये कॉमन पीपल कौन है और ये चूजन फ्यू कौन है ये चुने हुए थोड़े से लोग कौन है ये सिर्फ अहंकार है कि मैं अपने को विशिष्ट समझूं से इसको सामान्य समझूं और हरेक के मन में ये अहंकार होता है कि वो तो विशिष्ट है से सब सामान्य है अरब में एक पुरानी कहावत है कि जब भी परमात्मा लोगों को बना के दुनिया में भेजता है तो हरेक के कान में एक बड़ी गड़बड़ बात कह देता है जब वो बना के भेजने लगता है तो उससे कह देता है कि तुझसे बेहतर आदमी मैंने कभी बनाया ही नहीं और ये सभी से कह देता है ये बात कुछ सच्ची लगती है ऐसे कुछ होता होगा नहीं तो हरेक को ये भ्रम नहीं हो सकता Gandhi ji gold mills conference में भाग लेने लंदन इंग्लैंड गए हुए थे उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई बनट को मिलने गए बनरसा से महादेव ने कहा कि गांधी जी को आप भी तो महात्मा मानते होंगे बनट ने कहा मानता हूं लेकिन नंबर दो नंबर एक तो मैं ही हूं महादेव को बड़ा धक्का लगा ऐसा ख्याल उन्हें नहीं था भारत में ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि नंबर एक मैं हूं भीतर भीतर सोचेगा बाहर से कोई नहीं कहेगा पीठ पीछे कहेगा सामने कोई नहीं कहेगा तो ये कल्पना महादेव को नहीं हो सकती थी कि कोई आदमी इतना सीधा सीधा कह देगा कि गांधी नंबर दो महात्मा है नंबर एक तो मैं हूं बहुत दुखी वापस लौटे और गांधी को उन्होंने कहा गांधी ने कहा बनट साहब बहुत सच्चे आदमी मालूम होते हैं जो हर आदमी के मन में लगता है वही उन्होंने कहा है ये भ्रम सबके भीतर है कि मैं विशिष्ट हूं और दूसरे सब सामान्य हैं इसलिए सब दूसरों की चिंता हरेक के मन में होती कि इन सब सामान्य जनों का क्या होगा इन विचारों का क्या होगा और मैं आपसे निवेदन करूं ये अहंकार अति सामान्य बात है ये ख्याल कि मैं विशिष्ट हूं अति सामान्य मनुष्य का लक्षण है जो सच में विशिष्ट होते हैं उन्हें यह ख्याल मिट जाता है कि मैं विशिष्ट हूं जो सच में विशिष्ट होते हैं उन्हें यह ख्याल मिट जाता है कि मैं विशिष्ट हूं साथ ही उन्हें यह भी ख्याल मिट जाता है कि कोई सामान्य है और अगर मुझसे पूछें कि सामान्य किसे कहें तो उसी को मैं सामान्य कहता हूं जो स्वयं की बुद्धि पर और स्वयं के विचार पर विश्वास न करके दूसरे की बुद्धि और दूसरे के विचार पर विश्वास करता है वही सामान्य है और अगर उसे सामान्य के घेरे से हटना है तो उसे पहली बात ये जो श्रद्धा और विश्वास का अंधापन है ये छोड़ देना होगा जब मैं ये कहता हूं कि श्रद्धा और विश्वास का अंधापन छोड़ देना होगा तो उसका अर्थ है अपने पर विश्वास जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करता है अनिवार्य रूपेण स्वयं पर विश्वास नहीं करता स्वयं पर जो अविश्वास है वही दूसरों पर विश्वास बन जाता है मैं यदि अपनी शक्तियों पर कोई विश्वास नहीं करता तो मैं दूसरों पर विश्वास करूंगा और यदि मुझे अपनी शक्तियों पर कोई भी विश्वास हो तो मैं किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करूंगा आत्मविश्वास तो सहयोगी है लेकिन दूसरे पर विश्वास घातक है और मैंने जो विचार के लिए कहा वो इसी अर्थ में कहा है जब मैं ये कह रहा हूं कि अपने पैर पर खड़े हो जाएं, खुद सोचें, खुद चिंतन करें खुद अनुभव करें तो मैं ये कह रहा हूं स्वयं पर विश्वास करें लेकिन विश्वास शब्द का मैंने उपयोग नहीं किया जानकर वो शब्द जहरीला हो गया है विषाक्त हो गया है उससे भ्रम होने का डर होता है इसलिए मैंने कहा विचार करें इसलिए मैंने कहा खुद का अनुसंधान करें लेकिन प्रयोजन तो बहुत स्पष्ट है प्रयोजन यह है कि मैं आपका जो विश्वास दूसरों पर है उस सब को चाहता हूं हट जाए और स्वयं पर आ जाए आत्मविश्वास ही मार्ग बन सकता है आत्मा तक जाने का और ये जो निरंतर मैं विरोध कर रहा हूं कि छोड़ दें औरों पर वो इसीलिए ताकि स्वयं पर हो सके कोई सामान्य नहीं है जो व्यक्ति भी अपने पर विश्वास नहीं करता वही सामान्य है वही रुग्ण है वही बीमार है और आप यदि मुझसे कहें कि सामान्य जन का क्या होगा अगर वो अपने पे विश्वास कर लेगा क्या होगा बहुत शुभ होगा डर हमें क्यों है ये डर के पीछे भी कारण है डर के पीछे कारण ये है भय है कि सामान्य जन स्वच्छंद हो जाएगा अनैतिक हो जाएगा अनाचारी हो जाएगा नीति छोड़ देगा धर्म छोड़ देगा ये डर क्यों है ये डर इसीलिए है कि मनुष्यों के ऊपर जो भी धर्म हमें आज दिखाई पड़ता है वो जबरदस्ती थोपा हुआ है और जो भी नीति दिखाई पड़ती है वो जबरदस्ती उनके सिर पर बोझ की भांति रखी गई है यदि उनको स्वतंत्र होने का मौका मिला तो इस बोझ को वो सबसे पहले उतार देंगे ये भय है अगर स्वतंत्रता हमारी नीति को और धर्म को छीन लेती हो तो जानना चाहिए कि वो नीति और धर्म झूठे होंगे जो धर्म और नीति स्वतंत्रता के आने पर छिन जाएं वो निश्चित ही झूठे होंगे जो धर्म और नीति स्वतंत्रता के आने पर और प्रगाढ़ और गहरे हो जाते हैं वे ही केवल वास्तविक हैं क्योंकि धर्म झूठा है क्योंकि नीति और आचार हमारे मिथ्या हैं इसलिए ये भय मनुष्य के ऊपर सारा धर्म थोपा हुआ और झूठा है उसकी सारी नीति असत्य है उसका आचरण उसकी आत्मा से उठा हुआ नहीं वरन किन्हीं भय और प्रलोभन के आधार पर जबरदस्ती पहना हुआ है इसलिए डर है कि यदि मनुष्य का विचार स्वतंत्र हो तो अनैतिक हो जाने का डर है यह डर इस बात की सूचना है कि मनुष्य अभी भी अनैतिक होगा स्वतंत्रता तो परीक्षा है और चौराहे पर पुलिस का आदमी खड़ा है इसलिए आप चोरी नहीं करते हैं और अदालत में मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है इसलिए आप चोरी नहीं करते और वहां भगवान की अदालत भी बैठी हुई है जो नरक भेजती है और स्वर्ग भेजती इसलिए आप चोरी नहीं करते अगर ये सब अदालतें उठ जाएं और परमात्मा से लेकर पुलिस वाला तक विदा हो जाए तो बहुत डर है कि हम सब चोरी करेंगे तब क्या इनके डर से जो हम चोरी नहीं कर रहे हैं वो नैतिकता है वो धर्म है क्या इनकी मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है कि हम नैतिक नहीं हैं नरक है स्वर्ग है भय है उस डर से आप चोरी नहीं कर रहे हैं बेईमानी नहीं कर रहे हैं क्या ये आपके नैतिक होने का प्रमाण है नहीं नैतिक होने का एक ही प्रमाण होता है कि जब कोई भी भय न हो तब भी आप नैतिक हो जब कोई भी भय न हो तब भी आपके जीवन में शुभ का अवतरण हो जब कोई भी प्रलोभन न हो तब भी आपके जीवन से सत्य और प्रेम बहे स्वतंत्रता ही एकमात्र कसौटी है कि मनुष्य नैतिक है या अनैतिक है सब भांति स्वतंत्रता ही इस बात की सूचना देगी कि हम कहां हैं और मैं आपसे ये भी निवेदन करूं ये जो सारा भय है सारे दुनिया के धार्मिक लोगों को कि जैसे जैसे स्वतंत्रता आएगी वैसे वैसे अनिति आएगी ये एक तरह से ठीक है क्योंकि उन्होंने हजारों वर्षों से झूठी नीति को मनुष्य के ऊपर थोपा है मेरी दृष्टि में झूठी नीति की बजाय सच्ची अनीति शुभ होती है मैं अपने को व्यर्थ ही सज्जन समझूं इससे मेरा दुर्जन होना ही ठीक है कम से कम वो सत्य के निकट तो होगा वो मेरी समझ सत्य के करीब तो होगी कि मैं चोर हूं और यदि मुझे ये स्पष्ट बोध हो जाए कि मैं चोर हूं तो मेरी चोरी के परिवर्तन का संभावना पैदा होती है यदि स्पष्टता ये बोध हो जाए कि मनुष्य अब भी अनैतिक है और नैतिक नहीं है और सभ्यता झूठी है और संस्कृति सब बकवास है अगर ये बहुत स्पष्ट हो जाए तो हम मनुष्य के बाबत पुनर्विचार कर सकते हैं स्वयं के बाबत सबके बाबत कोई नए मार्ग से जीवन को बदलने की दिशा खोजी जा सकती है लेकिन जो लोग भ्रम में हो कि हम नैतिक हैं और आचारवान हैं और भीतर अनिति हो और अनाचार हो उनके तो परिवर्तन के द्वार ही बंद हो गए विचार जब स्वतंत्र होगा तो पहली बात तो ये होगी कि हम अपने संबंध में जो तथ्य है जो फैक्ट है उसका दर्शन करने में समर्थ होंगे हम में से बहुत कम लोगों को अपने तथ्य का दर्शन होता है हम सब अपने को कुछ समझे रहते हैं जो हम नहीं है कोई आदमी खास ढंग के कपड़े पहन लेता है और सोचता है साधु है कोई आदमी तिलक लगा लेता है माला डाल लेता है यज्ञोपवीत पहन लेता है और सोचता है धार्मिक है कोई आदमी मंदिर हो आता है सुबह और सोचता है पुण्य कमा रहा है यदि विचार स्वतंत्र होगा तो हम इस बात को देखने में समर्थ होंगे कि इन सब में क्या धार्मिकता है क्या किसी खास ढंग के वस्त्र पहन लेने से कोई साधु हो सकता या कि किसी खास ढंग के भोजन करने से कोई साधु हो सकता है न तो खास ढंग के भोजन से कोई साधु होता है और न खास वस्त्रों के पहनने से भोजन और वस्त्र अति क्षुद्र बातें हैं साधुता बड़ी अद्भुत और बड़ी कीमती बात है इन क्षुद्र बातों से कोई साधु नहीं होता हम अपने बाबत तथ्य भी नहीं जान पाते हैं जो फैक्चुअलिटी है वो भी नहीं जान पाते हैं क्योंकि विचार हमारा स्वतंत्र नहीं है और सारे लोग कहते हैं इस भांति के वस्त्र पहने हुए आदमी साधु है हम भी कहते हैं फिर एक दिन हम भी वैसे वस्त्र पहन लेते हैं और खुद को भी साधु समझते हैं क्योंकि वैसे ही वस्त्रों में दूसरे लोगों को भी हमने साधु समझा था और हमें इस बात का न स्मरण होता है न इसकी पीड़ा होती है कि हम सोचें और विचार करें इसमें साधुता क्या होगी सच तो यह है कि जिससे वस्त्रों में साधुता दिखाई पड़ती हो उस जैसा मूढ़ व्यक्ति खोजना कठिन है और जिससे भोजन के परिवर्तन में साधुता दिखाई पड़ती हो वो सिर्फ हंसने योग्य है और कुछ भी नहीं मगर ये अत्यंत क्षुद्र बातें हमें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि दिखाई पड़ने के लिए स्वतंत्र विचार चाहिए स्वतंत्र विचार हमें अपने तथ्यों को प्रकट कर देगा अगर भीतर नरक है तो नरक को खोल देगा ऊपर से सुगंधित फूल लगा दिए हो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर भीतर पशु है तो वो पशु नग्न हो जाएगा प्रकट हो जाएगा और जीवन में कोई गति नहीं हो सकती उस समय तक जब तक हमारी तथ्य का हमारी वास्तविकता का हमें ठीक ठीक दर्शन न हो मैं कैसा हूं ये जानना अत्यंत नग्न रूप में आवश्यक है अत्यंत नग्न रूप में मुझे जानना आवश्यक है मैं कैसा हूं क्या हूं तो ही कोई परिवर्तन संभव हो सकता है और भी आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप अपनी नग्नता को पूरा जान लें आप फिर बिना परिवर्तित हुए नहीं रुक सकते हैं असंभव है ये कि आप फिर रुक जाएं अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि आप चोर हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आप कुछ दान भी करते हैं और दानी है चोरी दान में छिप जाती है इसलिए सब चोर दान करते हैं कोई चोर बिना दान किए नहीं बच सकता क्योंकि दान में वो अपने चोर होने के तथ्य को छिपा लेगा निश्चिंत हो जाएगा उसे फिर अपनी नग्नता दिखाई नहीं पड़ेगी हम जहां जहां गलत हैं जो जो हमारे भीतर व्यर्थ है जो जो हमारे भीतर अशुभ है उसे उसे छिपाने को हम बहुत उपाय कर लेते हैं अधार्मिक आदमी जरूरी रूप से मंदिर चला जाता है वैसे धर्म ओढ़ने की सुविधा हो जाती है और खुद के लिए यह भ्रम पैदा करना आसान हो जाता है कि मैं अधार्मिक कौन मैं तो अधार्मिक नहीं जो नहीं मंदिर जाते हैं वे सब अधार्मिक हैं मैं तो धार्मिक हूं और इस भांति उसके भीतर जो अधर्म था उसे छिपाने का उपाय हो गया है ये जो हमारी सारी नीति है और हमारा सब आचार है भीतर गहरी जो अनीति है उसको छिपाने से ज्यादा और कोई काम नहीं कर रहा है इसलिए तो इतने मंदिर हैं इतने मंदिर जाने वाले हैं लेकिन धर्म कहां है इसलिए तो इतने धर्म हैं इतने सन्यासी हैं लाखों की तादाद में सन्यासी हैं सारी दुनिया में लेकिन दुनिया कितने गहन अनाचार में खड़ी है इतने दिए जल रहे हो सारी दुनिया में अभी मैं कल ही कोई मुझे बता रहा था कि सिर्फ कैथोलिक साधु दुनिया में बारह लाख है थाईलैंड के बाबत एक मित्र आए थे वो मुझसे कह रहे थे थाईलैंड की आबादी तो है चार करोड़ और सन्यासी हैं बीस लाख हिंदुस्तान में भी पचास लाख की संख्या है जहां जिस दुनिया में इतने सन्यासी हों जिस दुनिया में इतने सत्पुरुष हों वहां तो प्रकाश ही प्रकाश फैल जाना चाहिए जरूर ये दिए बुझे हुए होंगे तो गिनती में तो काम आ जाते हैं लेकिन प्रकाशन से कुछ भी निकलता नहीं शोरगुल मचाने में उपद्रव करवाने में काम आ जाते हैं लोगों को लड़ाने में काम आ जाते हैं इनसे कोई प्रेम पैदा नहीं होता है और ये ठोथी नीति हमें पकड़े हुए है आपका चित्त सोचने में समर्थ होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा आप कहाँ हैं हो सकता है वो वो मूर्ति बहुत रुचि करना हो जो आपको अपनी दिखाई पड़े हो सकता है वो बहुत कष्टप्रद हो हो सकता है बहुत धोख इतने दिन का धोखा टूटे तो आप घबरा जाएं लेकिन इस पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा जिसको स्वयं को नया जन्म देना हो उसे प्रसव की पीड़ा झेलनी ही पड़ती है पीड़ा से गुजरना ही होगा अपने सारे वस्त्र उतार के अपनी सब थोथी नैतिकता उतार के देखना ही होगा मेरे भीतर क्या है और कौन है वहां अगर पशु दिखाई पड़े तो जल्दी से फिर से नीति के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन वस्त्रों के कारण ही वो पशु जिंदा है और बचा हुआ है उन वस्त्रों को उतार ही दें जैसे हैं वैसे अपने को जानने को राजी हो जाएं, तो शायद वो तथ्य ही आपको इतनी पीड़ा देगा कि उसे बदलने को आपको राजी हो ही जाना पड़ेगा कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा अगर एक चोर स्पष्ट रूप से इस बात को जान ले कि मैं चोर हूं अगर एक हिंसक स्पष्ट रूप से इस बात को जान ले कि मैं हिंसक हूं तो बहुत दिन तक उस हिंसा और चोरी के साथ रहना संभव नहीं है जैसे कोई बीमारियों के साथ बहुत दिन नहीं रह सकता स्मरण आ जाए कि मुझे बीमारी पकड़े है तो उपचार की चिंता शुरू हो जाती है ये तो बीमारियां और भी गहरी हैं ये तो बीमारियां शरीर से कहीं बहुत गहरे मन को और प्राणों को भी स्पर्श करती हैं अगर इनका बोध हो जाए लेकिन मनुष्य को बोध नहीं हो पाता नहीं हो पाता इसलिए कि उसने बहुत सी तरकीबें लगा रखी हैं जिन तरकीबों में वो अपने मन को बहला लेता है और भुला लेता है और भीतर की बात भीतर पड़ी रह जाती है इसलिए जब भी ये सवाल उठता है कि हम इन सारी बातों को छोड़ के सच जो है हमारे भीतर उसे देखने को राजी हों तो घबराहट होती कि उससे तो अनिति फैल जाएगी उससे तो सब अनाचार फैल जाएगा अनाचार होगा तो ही तो फैलेगा अनाचार होगा तो ही तो प्रकट होगा नहीं होगा तो कैसे प्रकट होगा इसलिए स्वतंत्र होने के लिए केवल वही समर्थ हो सकता है जो अपने भीतर छिपा हुआ पशु है उसे देखने को राजी हो छिपाने को नहीं और जो इतना साहस करता है कि अपने भीतर के पशु को देखने के लिए तैयार हो जाता है मैं मानता हूं कि उसने पहला कदम उठा लिया उसने इतना साहस किया है कि अपने पशु को देखने की हिम्मत दिखलाई है बहुत कठिन है कि वो दूसरा साहस भी ना करे कि इस पशु से मुक्त होने का उपाय भी करे पशु से तभी मुक्त हुआ जा सकता है अनिति और अनाचार से जब हम उसके प्रति सजग हो जाएं। जो उसके प्रति सोए हुए हैं वो उससे कैसे मुक्त हो सकेंगे अच्छा है कि दुनिया में सच्चे बेईमान हो बजाय झूठे ईमानदारों के उस दुनिया में कुछ काम हो सकेगा कोई परिवर्तन हो सकेगा हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां चोर हो तो वो साफ तो हो कि चोर हैं वो कम से कम दान ना करते हो मंदिर ना बनवाते हो तो दुनिया में कुछ काम हो सकता है जो चक्कर है समाज के ऊपर वो ये है कि हमने कुछ झूठी तरकीबें निकाल ली हैं अपने को छिपाने की और उनको हम नीति कह रहे हैं आचार कह रहे हैं न तो वो नीति है और न वो आचार है एक आदमी रात को भोजन नहीं करता सोचता अहिंसक हो गया हद मूर्खता की बात है अहिंसक होना इतनी सस्ती बात है कि आप रात भोजन न करें या कि पानी छान के पी लें तो आप अहिंसक हो जाएंगे अहिंसा तो इतनी बड़ी क्रांति है कि जब तक पूरी आत्मा जाग ना जाए तब तक नहीं संभव है लेकिन आपने सस्ती तरकीबें निकाल ली और मामला हल हो गया आप अहिंसक हो गए और जब इतना सस्ता अहिंसक होने की सुविधा हो तो फिर सच में अहिंसक होने को कौन तैयार होगा कौन उस क्रांति से पीड़ा से गुजरने को तैयार होगा इसलिए घबराहट होती है अगर विचार स्वतंत्र हुआ तो कहीं रात में कोई खाना न खाने लगे अनाचार फैल जाएगा जैसे कि दुनिया में रात में कोई खाना न खाएगा तो अनाचार समाप्त हो जाएगा इतना सस्ता नहीं है अनाचार बहुत गहरा है आप कब खाते हैं और क्या खाते हैं इस पर बहुत निर्भर नहीं है आपके प्राणों तक विदा हुआ है इसलिए घबराहट होती है कि अगर हमने सब ऊपर से सब बातें छोड़ दी और व्यक्ति स्वतंत्र हुआ तो वो न मालूम क्या खाने लगेगा न मालूम क्या पीने लगेगा न मालूम कैसे कपड़े पहनने लगेगा न मालूम सड़कों पर गीत गाने लगेगा मंदिर नहीं जाएगा भजन नहीं गाएगा ये जो भय हमें व्याप्ता है ये इसलिए व्याप्ता है ये इस बात की सूचना है कि हमने हजारों वर्ष में जो भी नीति खड़ी की है झूठी है और मिथ्या है जो नैतिक विचार मनुष्य को स्वतंत्रता देने के लिए राजी नहीं है वो झूठा होगा कसौटी स्वतंत्रता है कि मनुष्य स्वतंत्र हो और नैतिक हो तो ही नीति वास्तविक है मैं समझता हूं कि जरूर यह होगा यह होगा अगर आप स्वतंत्र होंगे तो चीजें उभरेंगी और साफ होंगी लेकिन यह हितकर है कि चीजें उभरें और साफ हों आपके ठीक ठीक निदान के लिए ठीक ठीक डायग्नोसिस के लिए आपके ठीक ठीक उपचार के लिए बीमारी का साफ साफ स्पष्ट हो जाना जरूरी है आपके घाव और फोड़े दिखाई पड़ने चाहिए छिपे हुए नहीं होने चाहिए तो उनका उपचार हो सकता है फिर बिना उपचार किए रहना कठिन है अब तक जिन मनुष्यों ने भी वास्तविक आचरण को पाया है वे वही हैं जिन्होंने अपने वास्तविक अनाचरण को देखा है जो लोग भी परमात्मा तक ऊपर उठ सके हैं वे वही हैं जिन्होंने नीचे घुस के अपने पशु को पहचाना है जिसको आकाश छूना हो उसे नरक तक अपनी जड़ों को खोज लेना जरूरी है नहीं तो नहीं जिसे ऊपर उठना हो उसे बहुत गहरे भीतर के सारे पशु को उघाड़ के देख लेना आवश्यक है इसके पहले कि आपको परमात्मा के दर्शन हो आपको पशु का दर्शन करना ही होगा वो आपका तथ्य है वो आपके भीतर मौजूद है उससे भाग के कहीं जा नहीं सकते इसलिए घबराइए मत स्वतंत्रता से मत घबराइए घबराइए असत्य से घबराइए धोखे से घबराइए प्रवंचना से घबराइए सेल्फ डिसेप्शन से घबराइए उस धोखे से जो हम अपने को दिए जा रहे हैं घबराइए उन वस्त्रों से जो हमने थोप रखे हैं अपने लिए और छिपा रखा है अपना चेहरा राम का चेहरा लगाने से कुछ आप राम नहीं हो जाएंगे भीतर जो है आप वही होंगे मैं मानता हूं कि पीड़ा उत्पन्न होगी अगर आप स्वतंत्र होने का निर्णय करेंगे लेकिन पीड़ा को उत्पन्न होने दें अगर सच में ही आपको स्वयं को बदलने की कोई कल्पना कोई अभीपसा जगी है तो देखें जो भीतर है उसे स्पष्टता देखें अपनी सच्चाई से ठीक ठीक परिचित हों नहीं हो सकेंगे जब तक कि परतंत्र होंगे विचार में नहीं ये हो सकता है भारत से एक भिक्षु कोई 1400-1500 वर्ष पहले चीन गया वहां एक राजा था वो उसने बहुत मंदिर बनवाए थे बहुत मूर्तियां बनवाई बहुत ग्रंथ छपाए थे उसने भी सुना कि भारत से कोई बहुत अद्भुत भिक्षु आता है तो उसके स्वागत करने के लिए राज्य की सीमा पर आया वो बहुत प्रसन्न था जो भी भिक्षु इसके पहले आया था उसने ही उससे कहा था तुम अत्यंत धार्मिक हो तुम बहुत पुण्यशाली हो स्वर्ग तुम्हारा है क्योंकि तो उसने इतने मंदिर बनाए थे इतनी मूर्तियां बनवाई थी इतने शास्त्र छपवाए थे इतने भिक्षुओं को मुफ्त भोजन कराता था तो वही भिक्षु जो मुफ्त भोजन करते थे उसकी प्रशंसा भी गाते थे स्वाभाविक है वे ही भिक्षु उसकी प्रशंसा भी गाते थे कि स्वर्ग बिल्कुल तुम्हारा है तुम सुनिश्चित रहो तुमने इतना अद्भुत दान किया इतना धर्म किया स्वर्ग तुम्हारा है जब इस नए भिक्षु के आने की खबर सारे चीन में फैली तो वो गया उसने उस भिक्षु का स्वागत किया नाम था उसका बोधि धर्म स्वागत करके उसने तो जल्दी उसे फिक्र तो इसी बात की थी पूछने की कि मैंने इतने मंदिर बनाए इतने करोड़ों रुपए खर्च किए इसका फल क्या है जैसे ही थोड़ा निश्चिंत हुआ उसने एकांत एक में बोधि धर्म को पूछा मैंने इतने मंदिर बनाए इतना धर्म किया मुझे इससे क्या मिलेगा बोधि धर्म ने कहा कुछ भी नहीं और चूंकि तुम्हें मिलने का ख्याल पैदा हो रहा है और चूंकि तुम्हें यह अहंकार पैदा हो रहा है कि तुमने इतना किया इससे कुछ नुकसान जरूर हो सकता है मिलेगा तो कुछ भी नहीं वो तो बहुत घबरा गया है उसने कहा तो ये सारे भिक्षु तो मुझसे कहते थे कि स्वर्ग तुम्हारा निश्चित है भिक्षु तुम्हारा खाते थे इसलिए तुम्हारी प्रशंसा करते थे बोधि धर्म ने कहा मैं तुम्हें सत्य कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि धर्म का तुमने क्या बनाया है इससे कोई संबंध नहीं कितनी मूर्तियां बनाई इससे कोई संबंध नहीं कितने मंदिर खड़े किए इससे कोई संबंध नहीं तुम्हारी आत्मा कितनी परिवर्तित हुई इससे संबंध है क्या मंदिर बनाने से तुम्हारी आत्मा परिवर्तित हो जाएगी क्या मूर्तियां खड़े करने से तुम्हारी आत्मा परिवर्तित हो जाएगी इससे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है तुम्हारी आत्मा वही की वही है जो इस जगत में बड़ा राज्य चाहती थी वही अब बुढ़ापे में स्वर्ग का राज्य भी जीतने की तैयारी कर रही इसलिए मंदिर बनाती है इस जगत में राज्य चाहिए था तो सैनिक तुम पालते थे और उनको खिलाते थे मुफ्त उस जगत में राज्य चाहिए तो भिक्षु पालते और उनको मुफ्त खिलाते हो फर्क कहां है इस जगत में राज्य चाहिए था तो सीमाएं बढ़ाते थे उस जगत में स्वर्ग में राज्य चाहिए तो तुम दान करते हो दया दिखलाते हो लेकिन ये सब झूठा है ये तुम्हारे प्राणों से निकल नहीं रहा इसके पीछे भी वहां कुछ पाने की आकांक्षा वैसे ही काम कर रही है जैसे यहां कुछ पाने की आकांक्षा पैदा कर रही थी जिनका लोभ बहुत गहरा है वो पृथ्वी का ही राज्य पाके तृप्त नहीं होते वो स्वर्ग में भी राज्य चाहते हैं ये जो ये जो तथाकथित धार्मिकता है प्रलोभन पर खड़ी हुई कि तुम्हें स्वर्ग में पुण्य मिलेगा और पाप करोगे झूठ बोलोगे बेईमानी करोगे तो नरक में दंड मिलेगा ये जो दंड पर और प्रलोभन पर ये जो फियर पर भय पर खड़ी हुई नैतिकता है ये असत्य है क्योंकि धर्म का पहला सूत्र अभय है फियरलेसनेस है धर्म का पहला सूत्र भय फियर नहीं है जहां भय है वहां धर्म नहीं हो सकता जहां अभय है वहीं धर्म हो सकता है और अभय कौन हो सकता है जो स्वतंत्र हो जहां फ्रीडम है वहां फियरलेसनेस हो सकती है जहां स्वतंत्रता है वहां अभय हो सकता है और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां अभय नहीं हो सकता वहां तो भय होगा भय के कारण ही तो हम परतंत्र हैं और ये जो प्रश्न आप पूछते हैं ये भी भय से ही उत्पन्न हुआ है कि अनिति ना हो जाए अनाचार ना हो जाए ये भी भय से उत्पन्न हुआ है अनिति है अनाचार है होने की कोई संभावना अब नहीं है अगर कहीं भी कोई नरक है तो इस जमीन से बदतर नहीं हो सकता और क्या इससे बदतर हो सकता है 24 घंटे हम हिंसा में रथे हैं 24 घंटे हम बेईमानी में रथे हैं 24 घंटे हम धोखा दे रहे हैं अपने को और सबको और जो बहुत समझदार हैं वो भगवान तक को धोखा दे रहे हैं वो वहां प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं भगवान तक को फुसला रहे हैं खुशामत कर रहे हैं वहां भी वहां भी वो जाके जो भी उनसे बन सकता है जो इस दुनिया के रास्ते हैं खुशामत के वो भगवान के साथ स्तुति करके कर रहे हैं प्रार्थना करके कर रहे हैं कि तुम बहुत महान हो तुम पतित पावन हो और हम तो पतित हैं वो वहां खुशामत कर रहे हैं वो वहां रुस्बत दे रहे हैं यहां दुनिया में सब तरफ धोखा है मंदिर में धोखा है धर्म में धोखा है सब तरफ बेईमानी है और इस बेईमानी और इस धोखे की दुनिया में हम ये विचार करते हैं कि और कहीं अनैतिकता ना आ जाए अनैतिकता और क्या आएगी प्रेम बिल्कुल भी मन में नहीं है घृणा है हिंसा है इसलिए तो आए दिन युद्ध होता है आए दिन कहीं ना कहीं मनुष्य लड़ता है इधर मुझे किसी ने कहा कि तीन हजार साल मनुष्य के इतिहास में साढ़े चार हजार बार युद्ध हुए ये कैसी दुनिया है रोज युद्ध हो रहा है जब युद्ध नहीं हो रहा तो युद्ध की तैयारी हो रही शांति का अब तक कोई वक्त मनुष्य के इतिहास में नहीं जाना गया है दो तरह के वक्त हमने जाने हैं युद्ध का वक्त और युद्ध की तैयारी का वक्त शांति का अभी तक कोई वक्त किसी किसी मनुष्य समाज ने नहीं जाना है या तो लड़ते हैं या लड़ने की तैयारी करते जब तक लड़ने की तैयारी करते हैं तब तक समझते हैं कोल्ड वार चल रहा है और जब लड़ने लगते हैं तो हार्ट वार शुरू हो जाती है लेकिन दोनों वक्त लड़ाई चल रही है 24 घंटे लड़ाई चल रही है हर आदमी एक दूसरे आदमी से लड़ रहा है जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां 24 घंटे लड़ाई होगी आप बैठे हैं यहां निश्चिंत लेकिन हर आदमी का हाथ दूसरे आदमी की जेब में है आप बैठे हैं निश्चिंत लेकिन हर आदमी दूसरे की गर्दन दबाए हुए चौबीस घंटे ये चल रहा है और इसको हम कहते हैं ये बड़ी नैतिक दुनिया है ये नैतिक दुनिया है इसमें कहीं अनाचार ना आ जाए मनुष्य के स्वतंत्र होने से ये मनुष्य की परतंत्रता का फल है और अगर इसे तोड़ना ही है तो साहस करके मनुष्य को स्वतंत्र करने की कोई न कोई चिंता करनी आवश्यक हो गई है मनुष्य स्वतंत्र हो अभय हो सच्चाइयों को जाने पहचाने तो जरूर ही जो अशुभ है उसके परिवर्तन की आकांक्षा पैदा होनी शुरू होती है अशुभ का दर्शन अशुभ के परिवर्तन का कारण बन जाता है इसलिए मैं नहीं देखता कि स्वतंत्रता से कोई भी अशुभ फलित हो सकता है बाकी सब बातें परतंत्रता को स्थापित रखने के कारण खोजती हैं परतंत्रता बनी रहे इसलिए सामान्य जन की बातें की जाती हैं इसलिए मनुष्य बिगड़ ना जाए इसकी बातें की जाती हैं सब कोई मालिक गुलामों को छोड़ने को कभी राजी नहीं होता वो यही कहता है कि गुलाम छूट जाएंगे तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे ये तो हमारी वजह से मजे में है अगर ये छूट गए तो दिक्कत और कठिनाई इन पर आएगी सब मालिक यही कहते हैं मालिक की यही भाषा है शोषक की यही भाषा है कि शोषित स्वतंत्र ना हो जाए सारे दुनिया के धर्म पुरोहित राजनेता इस बात में सहमत हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता नहीं है मनुष्य जितना परतंत्र हो उतने अच्छा होगा अगर मनुष्य बिल्कुल विचार बंद कर दे करना तो बहुत अच्छी बात है इसके बाबत भी वो चिंतन करते हैं कि मनुष्य का सब विचार ही बंद हो जाए तो माइंड वाश के लिए उपाय खोजते हैं कि कोई चिंतनशील आदमी हो तो उसके मन की सफाई करके कैसे उसके मन को कोरा कर दिया जाए मेस्कलीन और एलएसडी जैसे ड्रग्स खोजते हैं कि आदमी इनको पीने लगे तो उसमें चिंतन समाप्त हो जाए सारी दुनिया में जो शोषक है चाहे वो राज्य का अधिकारी हो चाहे धर्म का ये दो ही बड़े गहरे शोषक हैं उन सबकी ये इच्छा है कि मनुष्य में स्वतंत्रता का कोई विचार पैदा ना हो क्योंकि स्वतंत्र और विचारपूर्ण मनुष्य सारी दुनिया में क्रांति का कारण हो जाएगा ये सड़ी गली समाज फिर नहीं चल सकती ये सड़ी गली दुनिया फिर नहीं बर्दाश्त की जा सकती इसमें बहुत क्रांति हो जाएगी इसमें बहुत आग लग जाएगी इसमें बहुत सी चीजें तोड़ देनी पड़ेंगी तो बहुत भय मालूम होता है इसलिए मनुष्य सोच ना पाए इसलिए जो टोटलिटेरियन मुल्क हैं जहां की तानाशाही है वहां तो उन्होंने चिंतन को बंद ही कर दिया है चिंतन इसका मतलब मौत सोचो कि गोली मारो आज नहीं कल सारी दुनिया में वो इसी कोशिश में है कि सोचो मत खाओ पियो मकान में रहो रेडियो सुनो अखबार पढ़ो लेकिन सोचो मत कि सोचना बड़ी खतरनाक बात है सोचना बड़ी विद्रोही बात है जहां चिंतन है वहां विद्रोह है और इसलिए वो पच्चीस उपाय खोजते हैं कि कभी सोचना मत हम जो कहें उसे मान लो राजनीतिज्ञ भी यही कहता है कि हम जो कहें उसे मान लो धर्म पुरोहित भी यही कहता है कि हम जो कहें उसे मान लो सारी दुनिया में सभी सत्ताधिकारी यही कहते हैं कि हम जो कहें उसे मान लो क्योंकि सोचने में खतरा है खतरा आपको नहीं है खतरा उनकी सत्ता को है खतरा उनकी शोषण की दुकान को है इसलिए वो इसकी सारी व्यवस्था करते हैं हजार दलीलें खोजते हैं लेकिन स्मरण रखें स्वतंत्रता से बड़ा कोई मूल्य नहीं है और स्वतंत्रता के विरोध में जो भी कहा जाता हो वो जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक है और मनुष्य के हित में नहीं हो सकता स्वतंत्रता तो परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है और जीवन में जो भी सुंदर है और जो भी शुभ है वो केवल स्वतंत्र चेतना ही पा सकती है परतंत्र चेतना नहीं पा सकती है दूसरे प्रकार के प्रश्न भी कुछ इसी बात से संबंधित है पूछा है कि समाज में ही व्यक्ति का जन्म होता है समाज ही उसे शिक्षा देता है समाज ही उसे पालता और पोसता और बड़ा करता है तो व्यक्ति समाज से स्वतंत्र कैसे हो सकता है ठीक लगती है ये बात समाज में आपका जन्म होता है लेकिन जो जन्मता है वो समाज से नहीं आता जो आपके भीतर है वो समाज से आया हुआ नहीं है बुद्ध बारह वर्ष बाद जब अपने अपने घर वापस अपने गांव में लौटे तो सारा गांव उनके स्वागत को गया उनके पिता भी गए बारह वर्ष बाद उनका लड़का वापस लौटता था सारा गांव तो उस लड़के का स्वागत करने गया था पिता अपना क्रोध प्रकट करने गए थे क्योंकि पिता को यह भ्रम था कि यह मेरा लड़का मुझसे आया मुझसे बिना पूछे भाग गया जाके उन्होंने जो पहली बात बुद्ध को कही वो यही कि मेरे द्वार अब भी खुले हैं अगर तू क्षमा मांगने को राजी हो और वापस लौट आए तो मैं अभी क्षमा कर सकता हूं और मेरे दिल में बहुत दुख होता है ये बात देखकर कि हमारे वंश में हमारे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी तेरे हाथ में भिक्षा का पात्र देख के मेरे प्राण छटपट आते तू राजपुत्र है तुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं ये हमारे कुल में हमारे वंश में कभी नहीं हुआ पता है बुद्ध ने क्या कहा बुद्ध ने कहा आप भूल करते हैं मैं आपसे आया जरूर लेकिन आपके कुल का नहीं हूं आप एक चौरस्ते की भांत थे जिस पर से मैं आया लेकिन मेरी यात्रा अलग से चल रही है बहुत पहले से मैं आपसे पैदा हुआ लेकिन आपका नहीं हूं और आपके कुल में भिक्षा न मांगी गई होगी जहां तक मुझे ख्याल है मेरे कुल में हमेशा भिक्षा ही मांगी गई है जहां तक मुझे स्मरण है मैंने हमेशा भिक्षा मांगी है आपके कुल में न मांगी गई होगी मैं आपसे पैदा हुआ लेकिन आपका ही नहीं हूं समाज में आप पैदा हुए हैं लेकिन जो आपके भीतर है वो समाज का नहीं समाज ने आपको शिक्षा दी है समाज ने आपको भोजन दिया है लेकिन आत्मा नहीं और अगर इस भोजन और शिक्षा और वस्त्र को ही आप आत्मा समझ लेंगे तो फिर डूब जाएंगे आत्मा इससे कुछ और भिन्न और पृथक है उसकी खोज के लिए समाज की सारी जंजीरों से ऊपर उठ जाना जरूरी है इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपसे यह कहता हूं कि रास्ते पर लिखा है बाएं चलो तो आप दाएं चलने लगे ये मैं नहीं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रास्ते पर दाएं चलने लगे या बीच रास्ते पर चलने लगे ये स्वतंत्रता नहीं है ये तो मूर्खता होगी इन नियमों को तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग दो पैर से चलते हैं तो आप दोनों हाथ पैर से चल के स्वतंत्र हो जाएं चारों हाथ पैर से चलने लगे और स्वतंत्रता की घोषणा कर दें ये मैं नहीं कह रहा हूं इस तल पर नहीं कह रहा हूं शरीर के और समाज की और औपचारिकता के तल पर नहीं कह रहा हूं कह रहा हूं उस तल पर वो जो आपके भीतर बहुत गहरा तल है विचार का वहां मुक्त हूं वहां देखना शुरू करें वहां अंतर्दृष्टि को जगाएं वहां सोचना शुरू करें वहां चिंतन जन्मे वहां होश आए कि मैं जो सोचता हूं जो करता हूं वो कहां तक उचित है कहां तक ठीक है वहां समाज आपको ना पकड़ पाए कल अगर आप हिंदू हैं और कोई आके आपसे कहे कि चलो मस्जिदों में आग लगाओ क्योंकि ये धर्म का काम है तो उस वक्त आप विचार करें कि क्या मस्जिदों को जलाना धर्म का काम हो सकता है या कल कोई मुसलमान आप मुसलमान हैं और आपसे आके कहे कि चलो हिंदुओं के मंदिर की मूर्तियां तोड़ो ये धर्म का काम है उस वक्त आप सोचें ये सड़क पर बाएं चलने की बात नहीं रही अब उस वक्त आप सोचें कि क्या ये उचित है क्या ये धर्म हो सकता है कि हम कोई मंदिर जलाएं और कोई मूर्ति तोड़ें जब कोई धर्म आपसे कहे कि लड़ो और दूसरे को दुश्मन मानो तब सोचना जरूरी है कि क्या धर्म घृणा और हिंसा सिखा सकता है तब विचार करना जरूरी है और समाज से मुक्त होना जरूरी है अगर दुनिया के युवक समाज से इस अर्थों में मुक्त हो सके तो दुनिया में न कोई युद्ध का कारण है न कोई हिंसा का कारण है न भारतीय को पाकिस्तानी से लड़ाया जा सकता है न हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा सकता है क्योंकि तब ये निपट गंवारियां बेवकूफियां मालूम होंगी और तब ज्ञात होगा कि हजारों वर्ष से आदमी ये क्या ना समझियां करता रहा है इस तल पर स्वतंत्र होना जरूरी है जब कोई आपसे कहे कि ये किताब सत्य है इसको मानो और पूजो और इसके इधर उधर जरा भी चिंतन मत करना तब सोचना जरूरी है कि क्या कोई किताब किसी मनुष्य को सत्य दे सकती है क्या किताब के पन्नों में और शब्दों में सत्य मिल सकता है अगर मिल सकता होता तो दुनिया में कब का सत्य सबको मिल गया होता कितनी किताबें हैं कितने धर्म ग्रंथ हैं लेकिन जिन लोगों के सिर पर जितने धर्म ग्रंथ हैं वे उतने ही जीवन में व्यर्थ मालूम पड़ते हैं तो चिंतन की जरूरत है कि क्या सत्य किताब से मिल सकता है या कि मुझे खुद खोजना होगा अगर कोई आपसे किताब ला के दे के कहे कि इस किताब को संभाल कर रखो बस इस किताब में जो है उससे तुम्हें प्रेम मिल जाएगा तो आपको शक होगा कि किताब से कैसे प्रेम मिल जाएगा प्रेम तो जब हृदय में जागेगा तो मिलेगा सत्य भी जब हृदय में जागेगा तो मिलेगा इन सारे तलों पर सोचने की जरूरत है एक पत्थर की मूर्ति रखकर कोई कहता है कि भगवान है इनकी पूजा करो तो चिंतन उठना जरूरी है कोई किसी जाड़ को पूज रहा है कोई किसी मंदिर में मूर्ति को पूज रहा है कोई किसी किताब को पूज रहा है सोचना जरूरी है कि क्या ये भगवान है और क्या ये पूजा केवल अज्ञान नहीं होगी या कि मैं खोजूं और जानूं कि कहां है जीवन स्रोत कहां है इस सारे जगत का जीवन स्रोत कहां छिपा है मैं उसे खोजूं क्या कि एक पत्थर को लेकर बैठ जाऊं यहां चिंतन की यहां विचार के मुक्त होने की जरूरत है तो आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाने पीने के मामले में कि कपड़े पहनने के मामले में कि सड़क पर चलने के मामले में कोई समाज से स्वतंत्र हो जाए ये तो सब सामाजिक घेरा है ये कोई आत्मा का स्थान नहीं है लेकिन चित्त के तल पर विचार के तल पर आपकी दृष्टि सजग हो सोचपूर्ण हो विचार करती हो खुद निर्णय लेती हो और जहां अंधी बात दिखाई पड़ती हो वहां ठहरना जानती हो रुकना जानती हो अस्वीकार करना जानती हो जहां कोई सार्थक बात दिखाई पड़ती हो अर्थपूर्ण जीवन को ऊंचा ले जाने वाली वहां स्वीकार करना जानती हो जहां कोई व्यर्थ घृणा में हिंसा में अज्ञान में अंधेरे में ले जाने वाली कोई बात खड़ी हो वहां अस्वीकार करना जानती हो ऐसी स्वतंत्र विचार की बुद्धि के लिए आपसे निवेदन किया हूं तो ये कोई कपड़े छोड़ के खाना बदल के कोई रास्ते पर उल्टा सीधा चलने को नहीं कह रहा हूं आपसे ये तो समाज का तल है उस तल पर कोई सवाल नहीं है उस पर कोई बंधन भी नहीं है बल्कि आप बाएं चलते हैं इसी वजह से चल पाते हैं अगर दाएं या बीच में चलेंगे तो चल भी नहीं पाएंगे समाज के जो नियम हैं आम जिंदगी को चलाने के उनसे कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन चिंतन के सत्य की खोज के और जीवन की खोज के जहां सवाल है जहां आत्मा तक पहुंचने का सवाल है वहां वहां सोचना पड़ेगा वहां विचार करना पड़ेगा वहां स्वतंत्र होना पड़ेगा और वहां स्वतंत्र होंगे तो ही उसको पा सकते हैं जो समाज से नहीं आता समाज के बहुत पहले है समाज के बहुत बाद है जो मां बाप से पैदा नहीं होता इसलिए मां बाप की दी गई कोई भी शिक्षा समाज की दी गई कोई भी शिक्षा आत्मा का ज्ञान नहीं बन सकता उस ज्ञान के लिए तो अत्यंत स्वतंत्र ऊर्जा की खोज और अनुसंधान आवश्यक है मैं समझता हूं मेरी बात आपको ख्याल में आई होगी और बहुत से प्रश्न हैं कल और परसों उनके बाबत बात करूंगा अब हम ध्यान के लिए थोड़ी देर बैठेंगे